الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائي وعلى أحبابه المعارضين لأعدائي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله मौला वसलम दाइमन नबदा अला हबीबिका खैर खल्क कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक्तहिमी या अकरमल खल्कि माली मन अलूजु बिही सिवा का इंदा हलूल हादिस अममी ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم अल्लाह तबारक व ताली जल्ल जलालू व अम्म नवालू व तम बुरहान व आजम शानू की हमद सना और हजूर सरवर कायनात मफखर मौजूदात जीनत बज़म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार जमा सैद सरबराम हामी बेकसम कायदुलमसलिन ख़ातमनबीन अहमद मुशतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वबारक वसलम के दरबार गहरबार में हदी अदरुद्सलाम अर्ज करने के बाद नहायत ही मुहतशम सामिन हजरात रबाल के फजल और तोफीक से आज हमारे खुतबा जुमतुल मुबारक का मौजू है महूम कुरान बदलने की वारदात किस्त नंबर सात मेरी दुआ है रबाल हम सबको कुरान और सुन्नत का फाहमता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताली हम सबको उन लोगों की हम और प्रपोगंडे से महफूज रखे जो कुरान मजीद की आयात के मफहूम पर वारदात करने वाले हैं मुतशम समिन हजरात ये मौजू हमारे नहायत ही अहम मौजूद के सिलसिला में से एक है इसकी छह अकसात पहले हो चुकी हैं और इसमें मरकजी नुकता ये है कि पुराने मजीद बुरहान रशीद की कुछ आयात को गलत पस मंजर में पढ़ा जाता है और पेश किया जाता है और हम उस गलती की निकाब कुशाई करना चाहते हैं और जो कुरान मजीद की आड़ में लोगों के अंदर गलत नजरियात फैलाए जा रहे हैं उनका अल्लाह की तोफीक से कला कमा करना चाहते हैं आज एक आयत करीमा के एक हिस्से के लिहाज से गुफ्तगु होगी चूंकि मसला इल्म गैब पर हमारी नौ अकसात हो चुकी हैं और उसके आखिर में जो अकसात होंगी वो एतराज़ात के जवाब पर मुश्तमिल होंगी एक एतराज़ जो मेरे पास पहुंचा तो मैंने ये लाजमी समझा कि उसके लिहाज से पूरा एक मौजू रखा जाए ताकि वो जो कसरत से उसको पढ़ा जाता है और उससे गलत नज़रियात को आगे बढ़ाया जाता है उसको रोका जा सके तो ये हमारे दोनों सिलसिलों से मुंसलिक मौजू है मसला इल्म गैर पर एतराज़ात के जवाबात में भी और दूसरा मफहूम कुरान बदलने की वारदात के लिहाज से भी ये अहम मौजू है तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब कायनात जल्ला जलालू का ये फरमान है वमा अदरी मा यू पालो भी वला बेकुम रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि को यह कहा गया कि आप ये कह दें कि मैं नहीं जानता जो मेरे साथ होगा और जो तुम्हारे साथ होगा मा यू पालो भी वला बेकुम सूरह अहकाफ की यात करीमा है छब्बीसवें पारे के आगाज में और दूसरी तरफ सही बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ है कि जिस वक़्त हज़रत उस्मान बिन मजरून रदी अल्लाह तहों का विशाल हुआ था तो हज़रत उम्म आला रदी अल्लाह तहा ने उनके बारे में ये अल्फाज बोले थे कि अल्लाह तबारक वाली ने तुझ पे कर्म किया तुझे जन्नती बनाया तो इस मौका पर रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा वल्लाह मा अदरी वाना रसूलुल्लाह मा युफालु बी के उम्मे आला तुमने ये अल्फाज कैसे बोले खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा हालांकि मैं अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं तो ये आयत करीमा और ये हदीस शरीफ ये हमारी गुफ्तगु का आज मौजू है और इसका मफहूम और मतलब जो कि वाह इलाही मतलब हो या गैर मतलब यानी कुरान मजीद हो या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिहाज से इसका मफहूम समझना ये हमारा आज का सबक है तो मोहतशम सामिन हजरात मेरे पास ये एतराज पहुंचा तो इसकी वजाहत अब आपके सामने पेश कर रहा हूं नहायत ही तवज्जो के साथ इसे सुनना और इसे आगे पहुंचाकर हजारों नेकियां कमाना मोहतशम सामिन हजरात रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खाल के कायनात जल्ला जलालू ने इरशाद फरमाया वमा अदरी भी फालूबी वलाबकुम ये फरमा दो इन लोगों से मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या है और तुम्हारे लिए क्या है यहां पर इब्तदाई तौर पर बात के दो पहलू हैं एक का ताल्लुक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ है और दूसरा नबी अक्रम सल्लल्लाहु की उम्मत के साथ मा यू पालो भी ये रसूल अक्रम सल्लल्लाहु की जात का मामला है वला बेकुम और ये आप सल्लल्लाहु की उम्मत का मामला है और फिर इस पर जिस अंदाज में इसको वारदात करने वाले पढ़ते हैं तो वो दो बुरे मकासद के लिए पढ़ते हैं एक तो इस आयत को इस पस मंजर में पढ़ा जाता है कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफी समझते हो मुश्किल कुशा मानते हो वो तो अपने बारे में कह रहे हैं मुझे कोई खबर नहीं कि मेरे साथ क्या होगा यानी ये पस मंजर है माजल्ला के क्या मुझे अजाब होगा या मेरे लिए अल्लाह की तरफ से रहमत होगी ये उनका यानी अंदाज है बयान करने का और इसमें किसी को कोई शक नहीं वो इससे यानी मैंने मोहतात अंदाज में बयान किया कहीं आगे गुजर जाते हैं कि वो अल्लाह के नबी होके कह रहे हैं कि मादरी मायू फलो भी वला बेकुम उन्हें अपने बारे में पता नहीं कि उनके साथ क्या अल्लाह मामला करेगा वो तुम्हें क्या दे सकते हैं माजल्ला और दूसरा किसी आयत को पढ़कर वो इल्म गैब की नफी करते हैं कि वो रसूल अक्रम सल्लाम फरमा रहे हैं कि मुझे खबर नहीं ना अपने बारे में ना तुम्हारे बारे में तो लिहाजा नबी अक्रम सल्लाम को इल्म गायब नहीं है अल्लाह की तरफ से आपको बताया नहीं गया अल्लाह तो ये इब्तदाई तौर पर यानी चार पहलू हैं इस आयत करीमा में तो मोहतशम शामिल हजरात सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि की जात का मामला हमारा यकीन है और इसमें एक फीसद भी किसी मोमिन को शक नहीं कि रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि खाल के कायला जल्ल जलालू ने बिल यकीन मेरे लिए जन्नत को तैयार कर रखा है और इस मामला में रसूल अक्रम वसल्लम को एक लम्हा भी शक नहीं था हर वक्त आपको यकीन था कि खाल के कायनात जल्ल जलालू ने मेरे लिए जन्नत बनाई है और सिर्फ जन्नत बनाई ही नहीं बल्कि मेरी चाहत से बसाई भी है और मेरी चाहत से लोगों को अता फरमाई भी है रसूल अक्रम सलाम को इस बारे में इल्म था और अपनी उम्मत के लिहाज से भी इल्म था और उस इल्म के बारे में नबी अक्रम सल्लल्लाहु के फैसले के मुताबिक अल्लाह तला के कुरान की दर्जनों आयात हैं और नबी सलाम के इस बारे में सैकड़ों फरामीन हैं जो इस नजरिए को पक्का और मुस्तकम कर रहे हैं कि रसूल अक्रम सल्लाम को इस सिलसिले में किसी तरह का कोई शक भी नहीं था ना तो माजल्ला अपने बारे में यह खतरा था कि कहीं मुझे जन्नत से दूर रखा जाए और ना ही यह है कि आपको कोई इस बारे में बेलमी थी कि पता ही ना हो रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि को खाल के कायनात जल्ल जलालू ने हर तरह की कामिल रोशनी अदा फरमा रखी थी इस सिलसिला में पूरी उम्मत में से शायद एक भी इंसान ऐसा ना गुजरा हो कि जिसका ये अकीदा हो कि रसूल अक्रम सल्लल्लाहु वसलम दुनिया से तशरीफ ले गए और आपको यह पता ही नहीं था कि मेरे साथ अल्लाह मामला क्या करेगा कि माज अल्लाह मुझे जन्नत में रखा जाता है या कहीं और भेजा जाता है आप दुनिया से तशरीफ ले गए हो और आपको अपने बारे में ये इल्म ना हो पूरी उम्मत में से किसी एक शख्स का यानी जो काबिल जिक्र इंसान हो उसका ऐसा अकीदा हरगिज नहीं मिलेगा जिस पस मंजर में आज के कुछ लोग खुतबों में इस आयत को पढ़ते हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा में से किसी शख्स का इस आयत के लिहाज से कोई ऐसा ख्याल या नजरिया और अकीदा नहीं था हां यह है कि कुछ लोगों ने इस आयत को मनसूख माना कि ये आयत सूरह फतह से पहले इसका हुक्म था लेकिन इन्ना फतह न का फतह मुबीना वाली सूरत जब नाजिल हुई और उसका शान नजूल भी यह है कि मुशरकिन और मुनाफिक वो खुश हुए इन लफ्जों पर मा अदरी मा युफ फालो बी वला बेकुम इमाम राजी ने लिखा है उन्होंने बगले बजाई फरहल मुशरकून अवल मुनाफिकून वो खुश हुए इस आयत के नजूल पर मादरी मायुफ अलबी वला बिकुम वाली आयत पर खुश हुए कि ये देखो हमें कहते थे कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे अब कहते मुझे तो अब नहीं पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा जब उन लोगों ने इस तरह खुशी का इजहार किया तो खाल के कायनात जल्ला जलालहू ने यह आयत नाजिल कर दी इन्ना फतहना लका फतह मुबीना हमने आपको फतेह मुबीन अता फरमा दी है ताकि आपके सदके पिछलों पहलों के सबके गुनाहों को माफ फरमा दे ये आयत नाजिल हुई तो अब इससे एक बात यह भी समझ में आई कि आज की उन लोगों की सोच का महवर क्या है उस वक्त मुशरकिन और मुनाफिकीन को इन लफ्जों से बड़ी खुशी हुई कि देखो ये नबी तो अपने बारे में भी नहीं जानते कि मेरे साथ क्या होगा ये हम इनके पीछे क्यों चले ये हमें किस बात की दावत देते हैं जिस बंदे को इतना ही बसूख अपनी दावत पे नहीं कि मेरी बात पर क्या मुझे भी निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी तो उसकी बात को और कौन मानेगा सारे हल मुशरकून वल मुनाफिकून वो खुशी मना रहे थे इस पर इस आयत के इस जहरी मफहूम पर जिसको आज लोग बाज पेश करते हैं तो हल के कायनात ने आयत नाजिल करके उनके मुंह को बंद कर दिया कि ऐसा ना सोचो हमने इनके सदके औरों के गुनाहों को भी माफ फरमा दिया ये एक इसका अंदाज है कि इस आयत को मनसूख माना जाए लेकिन अक्सर मुहक्कीन ने इस आयत को मनसूख नहीं माना और इस आयत का मतलब बयान किया कि ये असल में नाजिल किस तरह हुई है क्योंकि अखबार का एक ताल्लुक ऐसा है कि उस पर नशक आ ही नहीं सकता वो मनसूख हो ही नहीं सकती और इसका ताल्लुक उस कबीले के साथ है आह काम आते हैं फिर मनसूख हो जाते हैं लेकिन अल्लाह जो खबरें देता है मिसाल के तौर पर जन्नत यूं है जहन्नम यूं है कल अगर यह मनसूख हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता अखबार पे नसख आ ही नहीं सकता तो लिहाजा ये अहकाम की बात नहीं ये अखबार की बात है तो इसके लिहाज से क्या होगा इमाम राजी रहमत कहते हैं अक्सर उलमुहकिन इस तबादू हाजल कौल नसख वाले कौल को अक्सर मुहक्कीन ने बड़ा बही समझा है कि ये इसको मनसूख मानना ये दुरुस्त नहीं ये असल जिस तरह नाजिल है उसी तरह है लेकिन मफहूम इसका वो है कि जिसको पढ़ने से ईमान ताजा होगा मुनाफिकों को हरगिज खुशी नहीं होगी और तहसीरुल कारी में हजरत इमाम अब्दुल हक मुहदस देलवी रहमत के लगते जिगर नूरुल हक साहेब रहमल्ला तला ने इस बारे में लिखा ई तो जी दर दिले अकीदत मंदे ईमानिया जगाना दारत कि यह बात करना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु पर यह आयत नाजिल हुई और फिर सूरह फतेह के बाद जाकर मनसूख हुई ये बात अकीदतमंद ईमान वालों के दिल में जगह पा ही नहीं सकती हालांकि आज के कुछ लोग तो इसके ये जो दरमियान में मरतबा मैंने भी बताया कि मनसूख मान लिया जाए और फिर इसके बारे में ये अवारा लिसानी ना की जाए कि नबी सलाम को तो यह भी पता नहीं था मेरे साथ क्या होगा उनके साथ क्या होगा जब मनसूख हो गई तो अब इसको बयान करने का मतलब क्या है ये लोग इस पस मंजर में बयान करते हैं कि महबूब सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए और फिर भी पता नहीं था ये उम्मत में किसी इंसान का अकीदा नहीं था कुछ मुहदीन का यह अकीदा बना कि यह मनसूख है और उसमें भी उन्होंने शान बयान कर दी इस अंदाज से कि एक कौन मिलता था मुनाफिकीन और मुशरकिन की खुशी का अल्लाह ने इस आयत से उनकी उस खुशी को खत्म किया और ईमान वालों की लज्जत को में इजाफा फरमाया लेकिन ये जो मुहक्कीन है इस उम्मत के जमहूर उनका यह मसलक है कि यह आयत मनसूख नहीं है अपने हुक्म पर बाकी है लेकिन इसका मफहूम इतना वाजे है कि जिसकी हर हरफ से तजल्लियों के आफ्ताब शुरू होते हैं मनसूख क्यों नहीं शरे बुखारी में तहसीर उलखारी के अंदर लिखते हैं वो कहते हैं अगर मनसूख मानोगे तो वो सूरह फतह तो नाजिल हुई हुदैबिया के बाद सूरह हुदैबिया जिस वक्त सिहाबा वापस हो रहे थे और दिल में ये बात थी उमरा करने निकले थे और उम्र के बगैर ही हम चले जाएं तो ये कहीं हमारी शिकस्त तो नहीं तो अल्लाह ने फरमा शिकस्त नहीं ये तुम्हारी फतेह मुबीन है हमने इसमें फतेह मक्का का तुमको पैगाम दे दिया है तो अब इमाम नूर हक कहने लगे इतने सालों तक रसूल अक्रम वसल्लम के बारे में यह मान लेना कि उनको खबर ही नहीं थी कि मेरे साथ क्या होगा इससे बड़ा ईमान के लिए हमारे ईमान के लिए सुगम और बीमारी क्या हो सकती है लिहाजा एक लम्हा भी यह नहीं माना जाएगा कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को किसी तरह अपने बारे में या अपने मानने वालों के बारे में किसी तरह का कोई शक था ऐसी एक घड़ी भी नबी अकरम वसल्लम के ऊपर नहीं गुजरी और हमारे महबूब सलाम पहले दिन से ये जानते थे अल्लाह ने मुझे भी जन्नतों का मेहमान बनाया है और सबसे ऊंची सीट मेरे लिए है और मेरे मानने वालों को भी जन्नतों का मेहमान बनाया है नसक के कॉल पर छह हिजरी तक यह मानना पड़ेगा इसलिए अक्सर मुहक्कीन ने उस बात को भी पीछे हटा दिया कि शान रिसालत का तकाजा यह है कि मा अदरी मायू पालो भी वला बेकुम इसका मतलब वो है कि जिसकी वजह से एतराज बनता ही नहीं है जिसकी वजह से कोई खराबी लाजम आती ही नहीं है ना तो नबी सलाम की शान मुश्किल कुशाई के लिहाज से और ना ही इलम गैब के लिहाज से इसका वाज तरीन मफहूम है जिसको खाल के कायनात जल्ला जलालू ने दीगर आयात की रोशनी में बयान फरमा दिया है इमाम राजी ने जब इस पर बहस की तो तीन दलाल पेश करते हुए उन्होंने कहा इसको मनसूख ना मानो ये अभी भी बाकी है लेकिन मतलब इसका समझो मतलब क्या है फरमाने लगे बिल यकीन जब नबी अक्रम सल्लल्लाहु दूसरों को कहते थे मैं अल्लाह का नबी हूं तो यकीन ये बात तो जानते थे कि मैं नबी हूं दूसरों को जब दावत दे रहे थे उससे पहले खुद अपने नबी होने से वाकिफ थे और जो नबी होता है उससे गुनाहों का सुदूर नहीं होता कि जिसकी वजह से वो जहनुमी बन जाए तो रसूल अक्रम सल्लल्लाहु जिस वक्त सैदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह को दावत ईमान दे रहे थे उस वक्त साथ ये ऐलान कर रहे थे कि सिद्दीक अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत बनाई है अगर मेरा दामन पकड़ोगे तुम्हें भी जन्नत मिल जाएगी इस वास्ते इमाम राजी रहमत कहते हैं सरकार का नबी अपने आप को मानना और जानना यही इस बात की दलील है कि जो नबी होता है वो मजदूब नहीं होता वो मुहजब नहीं होता वो जहनमी नहीं होता वो गुनाहगार नहीं होता वो जन्नतों का बारिश होता है जन्नतें बांटता है लिहाजा महबूब अक्रम सल्लाम का औरों को यह दावत देना कि मुझे नबी मान लो यही इस बात की दलील है कि आपको इस कदर पुख्तगी थी इस बात के अंदर कि जो नबी होता है हर गिर उसे आखिरत के बारे में ये बेलमी नहीं होती बल्कि इतना इलम रोशन होता है कि उसकी जुबा के नफ से औरों के यकीन के समुंदर भी आबाद हो जाते हैं दूसरे नंबर पर इमाम राजी रहमत ने यह दलील दी कि लोगों देखो तो सही मकाम नबूवत से मकाम वलायत नीचे है मकाम नबूवत ऊंचा है तो बलियों के बारे में जब ये कुरान कहे अला इन्नाउलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वलाहुम यहजनून कि अल्लाह के बलियों तुम्हें कोई खौफ नहीं तुम्हें कोई हजन हुजन नहीं जिस कुरान ने बलियों के खतरे मिटा दिए हैं और उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया है अगर तुम मकाम विलायत पर फायज हो गए हो तुम्हें कोई हुजन कोई खौफ नहीं है जो महबूब सलाम अपनी जुबा से कुरान की तिलावत करते हुए बलियों को जन्नत के सर्टिफिकेट दे रहे थे माजल्ला अपने बारे में यकीन नहीं था कि मुझे क्या मिलेगा इमाम राजी कहने लगे जब कुरान की आयत बाजे कर रही है कि अल्लाह के और या के लिए जन्नत है तो अंबिया के बारे में यकीनन जन्नत का ऐलान किया जा चुका है तीसरी दलील कहते हैं अल्लाह फरमात अल्लाह आलम है लोगों अल्लाह ज्यादा जानता है कि वो अपनी रिसालत कहां रखेगा तुम अपनी तरफ से उम्मीदवार ना बनाओ जिस तरह के मुशरकिन मक्का ने औरवा बिन मसूद रजी अल्लाह तला को जब वाल कुफर में थे रिसालत का उम्मीदवार बनाया हुआ था लोहाजल कुरान अल्लाहतन अजीम अल्लाह कुरान को नाजल करना था तो इस उर्वा बिन मसूद पर नाजल करता तो अल्लाह ने फरमा अल्लाह आलम है रिसालता तुम मुझे मशवरे ना दो मैं जानता हूं कि मैंने जहां नबूवत रखनी है मैंने अजल से उनको मुंतखब कर रखा है कि उन उनके करीब ना एलान नबूवत से पहले और ना ही एलान नबूवत के बाद दागे इसियां नहीं आएगा वो पहले भी उन बातों से बचे रहेंगे जो जहन्नमी बनने का सबब बनती है एलान नबूवत के बाद भी उन बातों से बचे रहेंगे जो जहन्नमी बनने का सबब बनती है तो खाल के कायनात जल्ला जलालहू ने रियायत नाजल करके ध्यान ये किया है कि लोगों में रिसालत देता ही उनको हूं जिनको पहले नंबर पे जन्नती बनाता हूं अल्लाह आलम जालो रिसालता फरमा जब ये कुरान ऐलान कर रहा है उसने वादे कर दिया है और ये तो जिन लोगों तक ये आयात पहुंची उनको भी खबर हो गई कि जाए कि जिस सीने पर उतरा है उनको खबर ना हो यकीन रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लाह वसलम इस बात को जानने वाले हैं कि खाल के कायनात जल्ला जलालहू ने उनके लिए किस कदर की जन्नतें आबाद कर रखी हैं ये तीन दलाल उनके हैं और अगर कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात के अंदर तदब्बर किया जाए तो कसीर दलाइल हैं इस बारे में कि रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआजम सल्लाह वसलम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं अपनी उम्मत के बारे में भी वाकिफ है अपने बारे में उनकी शान क्या है हल के कायनात फरमाता वाला कद सबकत कलिमतुना ले इबादिनल मुरसलीन इन हम लहमुल मंसूरून व इन जुंदना लहमुल गालिबून कुछ लोग कहने लगे कि रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ये नहीं जानते थे इनका यानी तावील थी महज उन लोगों से ये बात हल्की है जिन लोगों ने यह कहा कि नबी अक्रम सल्लम को माजल्ला अपने बारे में ये पता नहीं कि क्या मैं जन्नती बनता हूं या नहीं बनता उन लोगों से यह मतलब कुछ हल्का था जिन लोगों ने यह कहा कि ये नहीं जानते थे कि क्या मैं गालिब आ सकूंगा या नाकाम हो जाऊंगा नबूवत का काम करते करते मुझे फतह मिलेगी या फतह नहीं मिलेगी ये दायरा जिन लोगों ने बनाया था लादरी के और मादरी के लिहाज से उन लोगों को भी ये आयत जवाब दे रही है कि खाल के कायनात जल्ल जलालहू ने यह ऐलान फरमा दिया है वला कद सबकत कालिमा तुना ले इबादिन मुरसलीन जो बंदे हमारे रसूल होते हैं हम उनको ये बात पहले अता कर चुके हैं इन होम लहमुल मंसूर उन्हीं की मदद की जाएगी वह इन जुंदना लहमुल गालिबून और वो मगलूब नहीं रहेंगे दुनिया भर में गालिब आके रहेंगे फिर अल्लाह फरमाता कातब अल्लाह लागली बन न आना व रोसली फरमा मैं भी गाले बाऊंगा मेरे रसूल भी गाले बाएंगे अब रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु को इस बारे में शक हो कि मैं क्या मक्का फतह कर लूंगा या नहीं कर लूंगा या मेरी नबूवत सिमट के एक घर तक रहेगी या पूरी कायनात में फैल जाएगी इस बारे में कुछ शक और वहम हो नहीं नहीं हाल के कायनात जल्ला जलालू ये अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट अता फरमा रहा है लाजली बन्ना आना व रसुली ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको ये शान अता फरमाई है और हम ये वादा कर रहे हैं और इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जो हमारी पार्टी है जो हिजबुल्ला है जो जुनदुल्ला है और जिसको हमने ये एजाज दिया है जिन सीनों को हमने अपनी बहज का मरकज बनाया है हम उनको ये इल्म कर रहे हैं कि ये गलबा पाने वाले लोग हैं और कभी भी इनको किसी तरह की कोई नाउमीदी नहीं होती बल्कि कुरान मजीद तो यहां तक कहता है वमा कान अल्लाह व अन तफीहिम वमा कान अल्लाह मुआजबहम वहम यस्तगफिरून फरमाया अल्लाह की ये शान नहीं कि अल्लाह इन जमीन वालों को अजाब दे हालांकि आप इनके अंदर तशरीफ फरमा हो आप इनमें मौजूद भी हो और अल्लाह इनको अजाब भी दे ये कैसे हो सकता है अल्लाह की यह शान नहीं कि अल्लाह जमीन वालों को अजाब दे वाल तफीहम और आप इनमें मौजूद भी हो और फिर भी सारी जमीन को पलट दिया जाए सारे लोगों को बंदर बना दिया जाए सबको खिंजीर बना दिया जाए जो ना मानने वाले हो उन पर खून का आजाद नाजर हो जाए जो ना मानने वाले हो उनकी शक्लें तब्दील कर दी जाए पर मैं नहीं महबूब तेरे सदके हम को मुजरिमों को भी आबाद रखेंगे अदरी मायुफ अलबी वलाबिकुम का ये जाहरी मतलब और ये आयात वमाकान अल्लाहम वान तफीम जब तक आप इनमें हैं हम इनको आजाद नहीं देंगे वो पहली उम्मतों पर जिस तरह का आजाद नाजिल होता था वो इन पर नाजिल नहीं होगा तो रसूल अक्रम नूरम दसम शफी मुजम सल्लल्लाहु जब सिहाबा के सामने याद पढ़ रहे थे तो क्या बयान कर रहे थे फरमाया अल्लाह ने मुझे तो अपनी रहमतों का गहवारा बनाया हुआ ही है और मुझे तो रहमत आलमी बनाया ही है और मेरे लिए तो आफियत है ही अल्लाह ने मेरे सद के इस दुनिया के अंदर खाल के कायनात जल्ला जलालू ने औरों को भी रहमतें अदा फरमा दी हैं साथ जो दूसरा मामला है वला बे कुम वाला उसके लिहाज से नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मजम सल्लल्लाहु का इलम कैसा है कुरान सुनो अल्लाह फरमाता वबशिरमिन बदलन कबीरा मेरे नबी मोमिनों को खुशखबरी सुना दो कि अगर कलमा पड़ जाएंगे तो उनको फदले कबीर मिलेगा अगर कलमा पड़ जाएंगे तो उनको फदल कबीर मिलेगा छोटा फदल नहीं बड़ा फदल मिलेगा इनको दावत दो कि तुम्हारी गुलामी में आ जाए जो आ जाएगा हम उस कांटे को भी फूल बना देंगे जो आ जाएगा हम उस सर्रे को आफ्ताब बना देंगे बिल्कुल जन्नत जन्नतुल्लती नूर सो ये जन्नत है जो हम विरसे दे देंगे मिन इबादिना मन का न तकिया जो तुम्हारी इस की सौगात लेकर मुत्तकी बन जाएगा हम उसको जन्नती नहीं जन्नत का वारिस भी बना देंगे अब देखो मादरी मायुफालो भी वना देखो अगर इसका यही मतलब है कि जो ये लोग बयान करते हैं तो फिर इन सारी आयात का मतलब क्या होगा मुझे ये खबर नहीं मेरे साथ क्या हो और मुझे ये पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जो ऐसी बात करे उसको तो दुनिया में कोई वोट नहीं देता उसका कलमा कौन पड़ेगा रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआजम सल्लल्लाहु सबसे बड़ी दावत लेकर आए हैं और सबसे जामे पैगाम लेकर आए हैं और सबसे पुख्ता दलाल लेकर आए हैं और सबसे कवि जोर इस्तलाल लेकर आए हैं आपकी दलील को सुनकर मुनकरों के दिल नूर से मानूर हो गए तो दलील इतनी पुख्ता थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी और जिसम मफहूम में ये लोग इस आयत को पढ़ने वाले हैं उससे तो माजल्ला ये पता चलता है कि नबी सलाम माजल्ला बड़ी ढीली सी दावत लोगों को दे रहे हो तो फिर कलमा कोई ना पड़ता इतने वसूख से दावत दी है कबीरा इन लोग इन लोगों को बिशारत दो अगर कलमा छोड़ के अगर तुम बुद्धों को छोड़ के मेरे पास आ जाओगे मेरे रब को मान लोगे मुरे मुझे मान लोगे हम तुम्हें जहन्नम में जलने नहीं देंगे जन्नत अता फरमाएंगे वसी कल्लीन तकम इलल जन्नत जुमारा खबर दी है फरमा चलाया जाएगा उन लोगों को जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया जन्नत की तरफ एक जुलूस की शक्ल में हत्ता इदा जाऊहा वपुतिहत अब वाबूहा वकाल अलहम खजनतुहा सलाम अलैकुम तिब तुम फदखलूहा खालिदीन फरमा जब ये मेरी उम्मत के मेरे मानने वाले चलेंगे आगे से फरिश्ते इस्तकबाल को बढ़ेंगे बोजलिफतिल जन्नत मुत्तकीन जन्नत इनकी तरफ सिमट के आ जाएगी इनके पहुंच चूमने के लिए और जब आगे बढ़ेंगे दरवाजे पहले खुल चुके होंगे सलाम अलैकुम तिब तुम हर तरफ से फरिश्ते सलाम सलाम के नारे लगा रहे होंगे ये मौकफ पेश किया ये बात बयान की तो लोगों ने चलना पड़ा अगर ये होता कि पता ही नहीं तुमको फिर भी जन्म में फेंक दिया जाए और मुझे माजला अपना पता नहीं तो कोई किस तरह ये दावत आगे बढ़ती पुराने मजीद कहता है कि रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु ने लोगों के सामने वाजे कर दिया और सी पल्लजी नब्बाहम का मफहूम देखो मेरे नबी सलाम फरमाते आना अक्ता कुम आलमो कुम अक्षा कुम फरमा सबसे ज्यादा तकवा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है और फिर वसयुजन्न बुहल अतका फरमाया सारी कायनात की उम्मतों में से मेरे सिद्दीक पहले नंबर के मुत्तकी हैं वसयुजन्न बुहल अतका जहन्नम से अतका को दूर रखा जाएगा अतका जहन्नम के करीब भी नहीं जाएंगे अतका कौन है सारे मुहदसिन मुफसरीन मुतफिक हैं वो सैदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तु है अब अल्लाह का कुरान तो कहे कि इनके यार भी ऐसे हैं जो जहन्नम के करीब नहीं जाएंगे और यकीनन उनको जन्नत दी जाएगी जो अपने यारों की जन्नत का वह इलाही की शक्ल में ऐलान कर रहे हो उनको अपने बारे में कोई शक कैसे हो सकता है आयात पढ़ते जाओ हल्के कायनात फरमाता है ला यसमऊन हसीसहा इन लदीन सबकत लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइक अनहा मुबादून फरमा जिनको हमने हुस्ना का लफज बोल दिया वो सारे जहन्नम से दूर रहेंगे सारे जहन्नम से दूर रहेंगे सब के बारे में बयान किया अपने बारे में नहीं सब के बारे में फरमा जिनको हमने हुस्ना का वादा कर लिया है वो ला यसमाऊ न हसी सिर्फ ये नहीं कि जहन्नम में नहीं दाखिल होंगे सिर्फ ये नहीं कि उनको जहनम से कुछ दूर रखा जाएगा फरमाया वो सैकड़ों वीर दूर जहन्नम की आवाज पहुंचेगी मगर हम हुसना वालों को उससे भी दूर रखेंगे उनको जहन्नम की आवाज नहीं आएगी हम जहन्नम से उनको दूर रखेंगे और जिनको जन्नत का मेहमान बनाएंगे तो इन सारी आयात ने इस बात को वाजे किया कि ये ना समझो कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को ये पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा मुझे क्या दिया जाएगा मेरे साथ माजल्ला जो वो आजाद के लफ्ज बोलते हैं और जहन्नम के लफ्ज बोलते हैं और बेखबरी के लफ्ज बोलते हैं कुरान मजीद की सैकड़ों आयात उसका रख करती है और इस बात को वाजह कर रही है कि ऐसा मानना नबी सलाम के बारे में बंदे को दायरा ईमान से दूर कर देता है मोमिन वो है जो हर लम्हा इस बात को मानने वाला है कि खाल के कायनात जल्ल जलालहू ने उनको अपने बारे में भी और अपने मानने के वालों के बारे में भी इल्मता फरमा रखा है अब देखिए हल्के कायनात जल्ला जलालू इशाद फरमाता है युद्ध खिलल मुमिन अवल मुमिनात जन्नात इन तजरीम इन तहत अनहार खालदीन फीहा वयुकफिर अन सयातिम वकान अदाली का इंदी फौजन अजीमा फरमा देखो हम इनको दाखिल करेंगे बागात में मोमिन को भी मोमिनात को भी और इनके लिए फौज अजीम है इनके लिए फतल कबीर है इनको हम बहुत ज्यादा अता फरमाएंगे तो ये मुसलसल पुराने मजीद बुरहान रशीद की आयात हैं जो इस बात को वाजे कर रही है कि खाल के कायनात जल्ला जलालू ने रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बारे में भी रोजे अजल से और जब से नूर पैदा किया ये तालीमात दे रखी है और जब आप एलान नबूद फरमा रहे थे पहले उम्मती को जब दावत दी है उसको सा सर्टिफिकेट भी दिया है अगर मान जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत का बंदोबस्त कर दूंगा ये आयात हैं जो सिर्फ मैंने एक झलक पेश की अहादीस सुनो रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि की यह हदीस वो लोग भी बयान करते हैं कि जिस बंदे ने मुझे जमानत दे दी उस चीज की जो दो जबड़ों के दरमियान है और जो दो टांगों के दरमियान है तो मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं हाँ। जो जुबान और शर्म का की मुझे जमानत दे दे तो मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं अगर नबी अक्रम नूरम जसम शफीम वसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ना होता रसूल अक्रम नूरम जसम शफी वसम सल्लल्लाहु अलैहि को इसके बारे में कोई मालूमत ना होती हरगिज महबूब सलाम ऐसे जमानते ना उठाते फिरते आपने इस अंदाज में पूरी शरीयत को बयान किया है खा वो अहकाम हो खा वो मामलात हो खा वो तसवुफ अखलाक की बातें हो हर एक में इतनी पुख्तगी के साथ लोगो मुझे आम सा दाई ना समझो मुझे वाइज ना समझो मैं वो हूं इधर बात करता हूं उधर रब से मेरा ताल्लुक कायम रहता है जब तक बाहू यूहा की तार नहीं मिलती उस वक्त तक मेरी जुबान नहीं खुलती मैं समाना शबोल रहा हूं जिसने मेरे दिए हुए दर्श अखलाक को मान दिया मैं आज उसको जन्नत की जमानत दे रहा हूं कितना तजाद है उन लोगों के हां एक तरफ ये बात करते हैं कि वो कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं है मेरे साथ क्या होगा और इनके साथ क्या होगा और दूसरी तरफ कहते हैं अबू बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना अली फिल जन्ना साद फिल जन्ना सईद फिल जन्ना तला फिल जन्ना जुबैर फिल जन्ना जिनको अपने बारे में इल्म ना हो वो औरों की जन्नतों के ऐलान कैसे कर सकते हैं उनको आशरा मुबशरा कैसे बना सकते हैं ये अहल सुन्नत का मजाज और ये दीन इस्लाम का मजाज है कि इनके अफकार में यकसानियत है कोई तजाद नहीं है आशरा मुबशरा को मुबशरा वो मान सकता है जो रसूल अक्रम वसल्लम के इल्म का एतराफ करने वाला होगा और सिर्फ ये तो दस एक अभी इसमें है वरना सैकड़ों को एक एक नाम से नबी सलाम ने जन्नत का उनका ऐलान किया अब देखो वह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तला जब ये फरमा रहे थे सही बुखारी में है अता बिन रबा अभी रबा को अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जन्नती औरत की खबर दूं जो यकीनन जन्नती है वैसे तो सारे से सहाबाई फिर जन्ना है लेकिन ये फरमाया जिनकी जन्नत के अब फैसले हो चुके हैं और नबी सलाम ने सर्टिफिकेट दे दिए हैं मैं तुम्हें बताऊं उनके बारे में तो अता बिन नबी रबा कहने लगे बता दो पर महाज ही इमरातुन सौदा ये चार रंग वाली औरत ये यकीन जन्नती है पर मैं कैसे पर मैं मैंने जन्नती बनते इसको देखा कुर्बान जाऊं उनके अकीदे पे मादरी मायुफ अलबी वला बिकुम वाली आयत इबन अब्बास ने भी पढ़ी हुई थी जिनको मुफसर बारगाह रसूल कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में खाल के कायनात जल्ल जलालहू ने इल्म हिकमत के समुंदर उनके दिलों में भर दिए थे वह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तु कहने लगे मैं जानता हूं कि ये आई थी हमारे नबी इस्लाम के पास मैं बैठा हुआ था इन्होंने कहा था कि मैं औरत जात हूं उस राओ व अतकशफ हूं मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मैं गिरती हूं तो मेरा सतर ठीक नहीं रहता तो कितनी मेरी जिल्लत होती है फतुल्लाफियनी अल्लाह से दुआ कर दो ये बीमारी दूर चली जाए तो वो एक चीज मांगने आई थी मेरे नबी सलाम ने दो में से एक देने का ऐलान कर दिया मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्वे बहा दिए हैं फरमा इन शेत दाऊतुल्लाफिया के व इन शेत सबरते वाला किल जन्ना ये लफ्ज पहले बोला इन शेत सबरते वाला किल जन्ना अगर चाहो तो सबर करो बीमारी पर तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला आज करता हूं और अगर चाहती हो तो मैं दुआ कर देता हूं बीमारी दूर हो जाएगी इन शेते सबरते वाला किल जन्ना तो वो कहने लगी असबिरो मैं सब्र करती हूं आप जन्नत अता फरमा दें उस वक़्त की औरतें भी कितना फर्म था उनको कुरान मजीद के उलूम पर हजरत उमर रजी अल्लाह तला को मिंबर पर एक औरत ने रोक लिया कि तुम हक मार की जो मैन मकदार को बयान कर रहे हो तुमने कुरान नहीं पढ़ा वहां तो किनतार का लफज है जो ढेर को कहा जाता है और तुम कहते हो ज्यादा से ज्यादा दो, दो सौ दिरम दिया जाए जायद ना किया जाए हजरत उमर रजी अल्लाह तु कहने लगे मर्द ने गलत कहा औरत ने सही फैसला कर दिया ये हाल था उन खातन का अब जिस वक्त उन्होंने देखा कि नबी सलाम ये फैसला फरमा रहे हैं आज दरिया अहमद जोश में है बीमारी तो ये चंद दिनों की है चंद महीनों की है पता नहीं कल मौत आ जाए लेकिन जन्नत तो दायमी मिलेगी तो कहने लगी जन्नत दे दो अब जिस माहौल में कुरान उतरा उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मादरी मा यू पालो बी वला बेकुम का मतलब यह है नबी को तो अपनी खबर नहीं हमें जन्नत कैसे दे सकेंगे वो ये बात कह सकती थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हें अपने मामले का पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा तो मुझे जन्नत देने का ऐलान कैसे कर रहे हो नहीं नहीं उनकी हां मफहूम कुरान पर वारदात नहीं थी उनकी हां हर लमा पे रहमतों की सौगात मौजूद थी जिस वक्त उन्होंने दरिया रहमत जोश में देखा है पर मैं अस्त देरो सबर करूंगी मुझे जन्नत अता फरमा दो अब आगे हदीस शरीफ में जो अल्फाज लिखे हुए हैं उनके लिहाज से मैं अपनी तरह से नहीं बयान करता कोई कहेगा कि ये तो सिर्फ बात थी पता नहीं जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये महज नबी इस्लाम ने फरमा दिया था हो सकता है ना मिले लेकिन मैं कहता हूं इबन अब्बास से तो फैसला करवाऊ बुखारी शरीफ में है उन्होंने ये लफ्ज सुने तो अकीदा क्या रखा अपने शगिर्द अता को कहने लगे अगर तुमने यकीन जन्नती खातून के बारे में जानना है तो ये जन्नती है उनका अकीदा यह है कि रसूल पाक सल्लम ने इनको जन्नत दे दी है जन्नत का ऐलान कर दिया है वरना बाद में जाकर जन्नती बनना उसमें इस औरत की खसूसियत क्या थी वो तो हजारों थी दीगर भी मौजूद थी जिनके फैसले बाद में जन्नत के होने थे ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तु जो बयान कर रहे हैं और खुद उस औरत ने जो समझा है हदीस के लफ्जों से वाज नजर आ रहा है वो ये है कि खालिक कायनात जलालू ने रसूल अक्रम सल्लाम को यह शान अता फरमा रखी है जब चाहते हैं जिसके बारे में जन्नत का फैसला फरमा देते हैं अब देखिए इस बात को आगे बढ़ाने से पहले अब यह तो आपके जेहन में आ गया आयात भी सैकड़ों हैं और अहादीस हजारों हैं जो इस मफहूम को रद्द करती हैं जिसमें आज कुछ लोग इस आयत को पढ़ते हैं और जो शख्स इसको इस मफहूम में पढ़ता है आज कि रसूल अक्रम सल्लाम दुनिया से तशरीफ ले गए और उस वक्त तक आपको पता ही नहीं था कि मुझे मेरे साथ क्या होगा माजल्ला मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं उस शख्स के नजदीक जर्रा भर भी ईमान की तजल्ली नहीं वो बिल्कुल मुकम्मल अंधेरे में है और उम्मत के अंदर किसी मोमिन का ऐसा अकीदा नहीं गुजरा कि जिसने नबी अक्रम सल्लल्लाहु के बारे में यह ख्याल रखा हो कुछ लोगों ने वो हुदैबिया के आज के नजूल के लिहाज से इस बात को समझा लेकिन फिर भी वो ये यकीन रखते थे कि हमारे नबी सलाम को पता था कि खाल के कायनात जल्ला जलालू ने उनके सदके पहलों पिछलों के सबके के गुनाह माफ फरमा दिए हैं और ये जमहूर उम्मत का यकीन है कि ये आयत अपने मफहूम पर मौजूद है ये मनसूख नहीं हुई और इस पर ये सारी आयात जो मैंने पढ़ी है वो इस बात पर दलालत कर रही है कि जिस मतलब में दोनों जुजों के लिहाज से रसूल अक्रम वसल्लम की माजल्ला जो वो मजबूर सी शख्सियत पेश करते हैं कि अपने बारे में भी पता नहीं था उनको बार बार कह रहे थे मैं जानता नहीं हूं मुझे पता ही नहीं है इलम भी नहीं है और ये ऐसी सूरत हाल मुस्तबिल में उनके साथ पेश आने वाली है वो किसी को, को क्या बचाएंगे ये जो जिन दोनों मफहमात के लिहाज से वो वारदात करते हैं ये सारी आयात और इनके अलावा जो मैंने नहीं पढ़ी बहुत सी वो इनके इस मफहूम को मुकम्मल तौर पर अव्वल से लेकर आखिर तौर पर गलत साबित कर रही है और सही मफहूम इसका वो है जो खुद ये आयत भी बोलती है और इसके साथ सारा कुरान भी बोलता है मादरी मा युफालो बी वाला बेकुम इमाम बैजावी रहमत ने लिखा इसका मतलब वाजे है क्या फरमाने लगे रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि को अल्लाह ने इलम की इजमाली दिया और वो सारी आयात में उसका जिक्र मौजूद है और यहां नफी इलम की नहीं इलम तफसीली की है मिसाल के तौर पर रसूल अक्रम सल्लल्लाहु को यह पता है जन्नत में मेरा सबसे ऊंचा मकाम होगा ये तफसील पता है कि जन्नत में सारे पैगंबरों के दर्जे मुझसे नीचे होंगे सिद्दीक शहीद सालहीन अतिया और जुहाद सब के मरतबे मेरे नीचे हैं हम करोड़ों साल भी बयान करते रहे हम वो बात बयान नहीं कर सकते जितना मजमून नबी सलाम को खबर है अपने बारे में कि क्यामत में मुझे क्या मिलेगा लेकिन फिर भी मिलेगा इतना जो किसी आदमी आता ही नहीं है वो बयान कर दिया मादरी मैं नहीं जानता कि अल्लाह कितने कितने कर्म क्यामत को मुझ पर करने वाला है तो- पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसम साहब माँ अदरी ए तफसील मैं नहीं जानता हर हर उस तफसील के लिहाज से क्योंकि वो बातें कुछ ऐसी हैं जो खाल के कायनात जल्ल जलाल हूं उसी वक्त उनका इल्का करेगा उसी वक्त जरूर करेगा ये सारी तफसीलें मौजूद हैं कि इर्शाद फरमाया था अब यह भी कोई ना समझे कि ये जो तुम खुद मान रहे हो इजमाली है तो इजमाली तो थोड़ा सा होता है मैं ये बता दूं जो उनके लिहाज से इजमाली है वो होता है जो समुद्रों से भी बड़ा होता है इजमाली का हमारे लिहाज से मतलब और है और नबी सलाम के लिहाज से मतलब और है और तफसील की नफी की जा रही है वरना जाम तिरमजी में है जब सिहाबा ने यह कहा था बैठे हुए इन इब्राहिम खलील्लाह व हजरत इब्राहिम तो अल्लाह के खलील हैं हजरत मूसम अल्लाह के कलीम हैं फरमा मैंने तुम्हारा कलाम सुन लिया है सुनो अला वाना हबीबुल्ला याद रखो मैं तो बड़ी शान वाला हूं मैं तो अल्लाह का हबीब हूं और फिर फरमा आना अव्वल अम्बिया फरूजन इजा बोएसू क्यामत के दिन अपने रोजा से सबसे पहले मैं निकलूंगा वह आदम फमन दू नहू तहत लिवाई हजरत आदम सलाम से लेकर हजरत ईसीम तक हर नबी मेरे झंडे के नीचे होगा वह कायद हम इजा वफादू फरमा जब सारे हसीन चेहरे सज जाएंगे खलील भी होंगे कलीम भी होंगे मसीह भी होंगे नजी भी होंगे सालहीन भी होंगे शोहदा भी होंगे और या अब अगया सब जब इकट्ठे हो जाएंगे उस वक्त की आदत मैं कर रहा हूंगा वह खतीब हम इजा अंशतु जब अल्लाह के दरबार में हम जाएंगे कोई नहीं बोल सकेगा तकरीर मैं करूंगा जब सबको प्यास लगेगी पानी मैं पिलाऊंगा हजार हा मफूमात जानने वाले हैं हमारी सोच तो उन तक भी नहीं जा सकती ये इजमाल का मतलब है कि खाल के कायनात जल्ला जलाल हूं उनको इतना देने वाला है इतना अता करने वाला है कि महबूब सलाम को फरमा दिया लोगो मैं उस तक नहीं पहुंच सकता जो खाल के कायनात मुझ पर लामहदूद करम फरमाने वाला है क्योंकि हमारा अकीदा कि रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जितना भी है महदूद है सिर्फ अल्लाह तला का इल्म गैर महदूद है नबी अकरम के महदूद के लफ्ज पर भी किसी को यह ना पड़े ये लफ्ज सरकार के बारे में लफ्जों का मतलब बदल जाता है महदूद का लफ्ज लोहे महफूज का इल्म कितना है लोहे महफूज वमिन उलूम का इल्म लोहे वल कलमी इमाम बसीरी कहने लगे तुम्हारे उलूम में से लौह का भी इलम है कलम का भी इलम है अब लौह उस पर जो कुछ है हमारा ख्याल सदियों तक भी उन उलूम का इहाता नहीं कर सकता लेकिन बिल आखिर लोह की हद है लोह महदूद है और हमारे अल्लाह का इलम लोह में बंद नहीं उससे कहीं ज्यादा है तो लिहाजा रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु को इतना कुछ अता कर रखा है कि हमारा ख्याल तो उस तक भी नहीं जाता लेकिन जो पीछे अल्लाह की अपनी मालूमात है उनके बारे में अल्लाह जो कुछ देने वाला है पर मैं मुझे पता नहीं कि अल्लाह क्या क्या कर मुझ पे फरमाने वाला है अब इस मकाम पर देखो कितना वाज मफहूम है और इसको बुगज की वजह से समेटा जा रहा है और इतनी आयात की मुखालफत की जा रही है इतनी अहादीस की मुखालफत की जा रही है मैंने यानी महदूद अंदाजे से यानी सैकड़ों आयात और हजारों हदीस का लफज बोल दिया इन सब को वो बंदा सही मान लेगा जो मादरी का यह मतलब सामने रखेगा और इसमें बिलखसूस ये बात यानी तहकीक की जो कौल है ये आयत अपनी जगह मौजूद है मनसूख नहीं है और एक लम्हा भी मेरे नबी सलाम पर ऐसा नहीं था कि जिस वक्त शाह को पता नहीं मेरे साथ बनती क्या है और मेरे साथ होता क्या है नहीं नहीं वो सूरह फतेह के नजूर से पहले ही पहले ही एलान नबूत फरमा रहे थे उससे पहले ही ये जानते थे कि खाल के कायनात जल्ल जलालू ने मुझे सरदारियां अता फरमाई है मेरे नाम के सदके अल्लाह जन्मियों को जन्नत अता फरमा देगा कितनी हदीस है मैंने वो के सामने वो मजदूर रखा था मैदान हशर के सिफारशी उसमें मैंने वो अदीस बयान की थी कि खाल के कायनात फरमाएगा जिन जिन को पहचानते हो उनको निकालो और उनको जन्नत में ले चुके ले जाओ और वो लोग जिनको महबूब अलैहिस्सलाम एक मुट्ठी भर के जन्नत में पहुंचाएंगे सारे जिसम उनके जल चुके होंगे जहन्नम में और फिर उन पे अबर करम बरसेगा तो चमकना शुरू हो जाएंगे अभी शरीफ में आता है इन लोगों को जन्नती जहन्नमी यून कहेंगे होंगे ये जन्नत में लेकिन इनका नाम जन्नमी पड़ जाएगा कि सबसे आकर जहनम से निकल के जाएंगे तो इस हद तक रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु अलैहि का अबर करम बरसने वाला है और यह है पुराने मजीद का मफहूम जिसको ये आयत बयान कर रही है और सारा कुरान जिसकी सदाकत पे गवाही दे रहा है बाकी इसके साथ वला बेकुम तुम्हारे साथ क्या होगा इस सिलसिला में जो इजमाली इलम है हमारे ख्याल से वो भी बाहर है हमारे मौजूद गुजर गए नवाज साहब जन्नत जन्नत का माहौल जन्नत और दीदार इलाही इस तरह के सारे मौजूद में वो सिर्फ अहादिस हैं जिनको यह बयान किया गया कि नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मजम सल्ला वसलम ने तफसील से बयान किया है कि जिस वक्त जन्नत तक पहुंचोगे दो चश्मे होंगे हर दरवाजे के साथ एक से जन्नती गुसल करेंगे और दूसरे से पानी पियेंगे जब पानी पी लेंगे अंदर की गलाजत निकल जाएगी और जब वहां से गुसल करेंगे फरमा लन तगैयारा अबशारहम वलन तश अशारुहम उसके बाद कभी बालों की कंगी मांद नहीं पड़ेगी और कभी जिल्द पे मैल नहीं आएगा इस तरह की चमक होगी कि जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कद साठ गज होगा और नौ गज सीना चौड़ा होगा और दिल हजरत यूब अलैहिस्सलाम वाला होगा और चेहरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला होगा और गले में गुलामी नबी सलाम का पता होगा नूर हम यसाबीम आगे पीछे नूर दौड़ रहा होगा सलाम उन्हें तुम के नारे लग रहे होंगे नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे तुम ये भी है कि जो कुछ लफ्जों में बयान हो सकता था वो मैंने किया और वो भी जिस हद तक तुम पहुंच सके अपने अपनी सोच के मुताबिक तुमने समझा ये हर एक की क्या मजाल है कि नबी सलाम के लफ्ज की आखिरी तह तक सब कुछ हासिल कर ले हर एक ने जो समझा तुमने अपनी सोच के मुताबिक और मैंने बयान किया वो कुछ हिस्सा किसी ने सुना कुछ किसी ने सुना और सारा मजमू तौर पर भी जो बयान हुआ ये उस वलाद कुम के लिहाज से मैंने कुछ बयान किया बाकी जो कुछ बाद में आने वाला है वो है ही ऐसा जिसको लफ्जों में बयान किया ही नहीं जा सकता वो ऐसी चीजें हैं और इस अंदाज से रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लाम ने वाजे कर दिया ये थी सूरत हाल जिसको मुजरिमों ने माजल्ला शान घटाने के लिए पढ़ा हालांकि अल्लाह ने तो शान बढ़ाने के लिए नाजल किया था वो हबीब प्यारा तो उमर भर करे फैज जूद ही सर बसर अरे तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में किससे बुखार है ये बीमारी वाली बातें हैं नबी अकरम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्ला वसलम की शानों के बारे में दिल में दुख होना चेहरे की रोशनी जो है उसका भले रोशनी तो है ही नहीं अंधेरों में इजाफा हो जाना ये सारे मामला जो हैं ये बदबातनी की हैं मोमिन की शान है उस वक्त भी खुश होता था आज भी आयात को सुनता है तो चेहरे पे बाहर आ जाती है मादरी मायुफ अलबी वलाबिकुम अब सात हदीस बुखारी शरीफ है तो उस बारे में तहसीर कारी में ये अल्फाज मौजूद है पहली बहस का एक हिस्सा उमदतुल्कारी के अंदर भी था तो इमाम नूर अल्लाह कहने लगे ई हरफ सादर अज महज मकाम अब खुलूस अब्दियत कि रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके बारे में फरमा दिया उस्मान बिन मजून के बारे में सिर्फ आजी के इजहार के लिए सिर्फ आजी के इजहार के लिए और इस बात के लिए कि जब मैं ये कहूंगा तो और बंदे अपनी जुबान में एहतियात से चलाएंगे खा मखा किसी को खुशखबरियां ना देते रहे कि फुला इस तरह है फुला इस तरह है क्योंकि ये मामला गैब के हैं आम लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है आम लोग इस बारे में ना बोले लिहाजा रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लाम ने एहतियात के तौर पर क्योंकि उस वक्त ऐसा जुमला सामने आ गया था इसके जवाब में यह कह दिया वरना अपने तौर पर बोलने पर आए तो हर हर जुजी को सहाबा के सामने बयान फरमा दिया जब हजरत में हर सरदी अल्लाह तला ने पूछा था कि मेरा बेटा कहां है जन्नत में आया या जख्म में अगर जन्नत में आया तो फिर सबर करती हूं फिर खुशी सबर करती हूं और अगर जन्नत में आया तो फिर रोने की तो इजाजत दे दो बदर में वो शहीद हुए थे हजरत हारिशा तो मेरे नबी सलाम ने आप इस मौके पर यह नहीं कहा कि ये किसी को कोई ना बताए क्योंकि वो किसी ने बताया था नबी की जुबान का ये मकाम है कि वो बयान करें उम्मे अला का ये मकाम नहीं है कि वो खुशखबरियां सुनाए अगर इब्तदाई सरकार ने फरमाया होता तो हरगिज रद्द न फरमाते अब यहां पर जिस वक्त उन्होंने पूछा तो मेरे नबी सलाम ने यह नहीं कहा कि उम्मे हारसा मुझे तो योग पता नहीं मेरे साथ क्या होगा तुम अपने बेटे की पूछती हो फरमाया नहीं इन नहाला जिनान वो इन इबना के असौबल फिरदौसल्लाला उम्म हारसा तुम एक जन्नत की बात करती फिरती हो मेरे अल्लाह की लाखों करोड़ों जन्नतें हैं और तेरा बेटा तो सबसे ऊंची जन्नत में पहुंच चुका है जब हजरत जाबिर रजी अल्लाह तला जिनकी खजूरों के बाग वाली बात आपने पहले सुनी वो कहते हैं कि मेरे अब्बा जी का कुफार ने मुसला कर दिया था और जब चादर ऊपर दी हुई थी मुझे सिहाबा उनका चेहरा नहीं देखने देते थे कि ये सारी उम्र फिर इनको ये बात भूलेगी नहीं इस मौका पर जब नौ बहनें थी मेरी कर्ज मुझ पर था छोटी उम्र थी और अब्बा जी ओहद में शहीद हो गए और मैं नहायत गम में बैठा था तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर अभी तक तुम खुश नहीं हुए फरमा आज तक कोई शहीद ऐसा नहीं जिससे अल्लाह ताला ने आमने सामने बात की हो इन कल्लमा अबा का किफाहा तेरे बाप से अल्लाह ने तेरे बाप से आमने सामने गुफ्तगु फरमाई है तो ये अंदाज था हजरत जाबिर रदी अल्लाह तला की जो गम था उसको दूर कर दिया फरमा कल्लमा अबा का किफाहा हाल कायनात सारे से दो से ही बात करता है मगर अल्लाह ताला तेरे बाप से आमने सामने गुफ्तगु फरमा रहा था नबी अकरम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रुमाल था आया तोहफा रेशम का और सारे सिहाबा आगे बढ़ के हाथ लगाते थे और बड़ा तजुब कर रहे थे कि बड़ा नरम है बड़ा नरम है जब सिहाबा का यह तजुब मेरे महबूब सलाम ने देखा फरमाया मेरे सहाबा लमनादील साबिन हजरत सात बिन मुहाज जो मेरे गुलाम फौत हो गए हैं अल्लाह ने जन्नत में उनको इससे भी नरम रूमाल अता फरमाए हैं इस रूमाल से भी नरम रूमाल उनको अता फरमाए हैं जिस वक्त ये बात हो रही थी कि मूसा में शहीद हो गए रसूल अकरम सल्लम के चच्चा चच्चाजाद भाई हजरत जाफर बिन अबी तालिब उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जाफिर बड़े गम में ढाल थे घर वाले सारे गम में थे पर मैं तुम्हें पता नहीं है इन जन्नत माल मलाय कहते है सो ये शाह अल्लाह ने मेरे जाफर को मेरे भाई जाफर बिन नबी तालिब को जो दोनों बाजू उनके कट गए थे उसके बदले में याकूत के पर दे दिए हैं वो जन्नत में जिधर चाहते हैं परों से उड़ते फिरते हैं भला बेकुम मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या होगा ये मतलब जो इन लोगों ने समझाया ये सारे मामला वो पहली आयात और ये अहादीस उसको रद्द कर रही है और इस मकाम पर भी रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफीम अजम सल्लाम अलैहि इरशाद ये फरमाना चाहते थे कि ताकि लोग अपने तौर पर खुशखबरियां ना दें जब उम्मे साथ उम्मे अला को रोका हजरत उस्मान बिन मजून के बारे में खुशखबरी पर और इस अंदाज से कि खाल के कायनात जल्ला जलालू मेरे सद के मेरे गुलामों को भी बहुत कुछ अता फरमाने वाला है बहुत कुछ नवाजने वाला है तो यह था इस आयत करीमा का मफहूम कि रसूल अक्रम सल्लाम की शान को वाज करने के लिए अल्लाह तला ने इस आयत को नाजिल फरमाया था मोहतशम सामिन हजरात गुफ्तु काफी तवील हो गई ये इसका एक पस मंजर और एक झलक और जो पूरी उम्मत का इतफाकी अकीदा है किसी को इसमें इख्तलाफ नहीं और ये ईमान है और ये यकीन है और ये वो बात है जो रसूल अक्रम सल्लम ने अपने सिहाबा को बताई थी मैं इस पर गुफ्तगु को खत्म कर रहा हूं इस बात के साथ कि जो शख्स इस इज्तिमा में हालत शक में आया था अल्लाह उसके शक को यकीन में तब्दील फरमाए और जो पहले असाब यकीन है खाल के कायनात जल्ला जलाल उनके यकीन में मजीद इजाफा फरमाए और फिर इस बात को आगे पहुंचाओ और ये देखो कि कितना जुल्म हो रहा है कुरान मजीद के मफहूम पे एक आयत को लेकर उसका पस मंजर बदल के अब तर्जमा तो मैंने भी यही किया लेकिन पस मंजर इसको उन्होंने बदल के सारी आयात के मफहूम का रद्द किया जितने भी आयात दीगर मैंने पढ़ी है अहादीस पढ़ी है लेकिन आल सुन्नत को अल्लाह ने वो आशान अता फरमाई है कि कहीं भी कोई तजाद नहीं है अल्लाह ताला ने यकसां यकीन हर आयत के लिहाज से अता फरमाया है और इसमें रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ूम का सिलसिला है इन वो अभी चूंकि हमारा मौजू जारी है मसला इल्म गैब का उसमें मुतद अकसात आएंगी अल्लाह तबारक वाली हमें समझ कर आगे फैलाने की तोफ़ी का फरमाए इन तबारक वाल आज नमाज असर के बाद मॉडल टाउन हाजी मोहम्मद हुसैन साहब वाली मस्जिद में दरस कुरान जो महाना होता है वो होगा आपसे शिरकत की अपील की जाती है